विश्वम् दर्पणम् दृश्यमानपरीम् तुल्यम् जैसे घोड़ा और भैंस ये दोनों पंचभूत में बने हुए हैं रूप से दोनों पंचभूत हैं परंतु दोनों का लक्षण अलग अलग है कि नहीं है घोड़ा की पहचान अलग भैंस की पहचान अलग और तत्व दृष्टि से तत्व दृष्टि से दोनों एक पंचभूत की दृष्टि से भी है सत्ता की दृष्टि से भी है चेतना की दृष्टि से भी है आनंद की दृष्टि से भी एक दृष्टि मात्र होने से भी एक ब्रह्म से अभिन्न होने से भी एक मसाला जो है मसाले से भैंस का शरीर बना है उसी मसाले से घोड़े का शरीर बना है परंतु पहचान दोनों की जुदा जुदा व्यवहार में अगर यही कहोगे कि दोनों में एक ही मसाला है तो तुम न घोड़े को पहचान सकोगे न भैंस को पहचान सकोगे लेकिन दोनों को पहचान लो कि घोड़ा पर किसकी पहचान ये है और भैंस की पहचान ये है और उसके बाद ये देखो कि दोनों में मसाला एक है तो मजा आ जाएगा तो कई लोग हैं जो आंख बंद कर लिया और भूले की जो दृश्य सुदृष्टा जो जड़ सुचेतन जो चेतन सुजड़ मसाला तो एक ही है तो ये कही तो है लेकिन पहचान तुमको नहीं हुई अज्ञान बना रहा तो इसी तरह से देह क्या होता है और देही क्या होता है इसको वेदांत के उच्च कोटि के ग्रंथों में भिन्न नहीं बोलते हैं वो विलक्षण बोलते हैं लक्षण में ही भेद है वस्तु में भेद नहीं है ऊपरी पहचान में ही भेद है एक स्त्री है एक पुरुष है तो दोनों के शारीरिक चिन्ह में भेद है लेकिन पंचभूत का मसाला दोनों में एक है जीवात्मा दोनों में एक है ब्रह्म दोनों में एक है तो जब विवेक प्रारंभ करते हैं जहाँ से भेद है है ना विलक्षणता है वहाँ से विभेद प्रारंभ करता है समझो एक सोने में एक भैंस बनी है और एक घोड़ा बना हुआ तो किसी से पूछा भाई ये क्या है बोले सोना है बोले सोना तो है ये सिंह वाला कौन है और ये कान वाला कौन है ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि घोड़े के सींग नहीं होती है घोड़ा गधा ये सिंह एक जानवर है और भैंस जो होती है उसको सिंह होती है तो ये सिंह वाला है और ये जो सिंह वाला है इतनी तो पहचान है ना बोले हाँ ठीक है ये गाय है इसके गले में ललबी है, इसके थन है दूध देती है और बैल के गल, गले में ललबी तो है लेकिन थन नहीं है वो दूध देने वाला नहीं है तो गाय बैल की पहचान तो होनी चाहिए ना बोले भूत तो सामान्य दोनों में एक है तो पंचभूत दोनों में एक है प्रकृति दोनों में एक है ब्रह्म दोनों में एक है वो तो ठीक है लेकिन विवेक तो पहले कर लो तो ये जो प्रारंभिक विवेक होता है तो लक्षण ज्ञान आवश्यक होता है तो जीव किसको कहते हैं और देह किसको कहते हैं तो बोले की ये श्वास जो है कभी ही ऊपर बाहर निकलती है कभी भीतर जाती है कभी अपार वायु निकलती है नीचे से तो ये दोनों क्रिया जो शरीर में हो रही है हाथ पकड़ते हैं मुंह से है ना ग्रास हाथ से उठाते हैं और मुंह में डालते हैं अच्छा आंख देखना चाहती है पांव चलना चाहते हैं तो ये पाव जिसके लिए चल रहे हैं आंख उसी के लिए देख रही है मुंह उसी के लिए खा रहा है और हाथ उसी के लिए उठा रहे हैं तो ये इंद्रियों के जो काम है वो तो अलग अलग है परंतु तो किसी एक के लिए है कि नहीं दोनों पहिया उसी के लिए घूमती है घोड़ा उसी में जोते जाते हैं बैठने की जगह उसी में होती है परंतु रथ की चेष्टा जो है वो चेतन के लिए होती है कि नहीं होती है रथ ही के लिए होती है तो इसी प्रकार इन कारों के सब काम इंद्रियों के सब काम चेतन के लिए होते हैं चेतन के करवाए होते हैं क्योंकि ये सबको जड़ चेष्ट हैं तो आत्मा जो है वो हड्डी मांस चाम रूप शरीर से भी अलग है हाथ पांव आंख नाक आदि इंद्रियों से भी जुड़ा है और प्राण अपान आदि जो वृत्तियां हैं वायु में देह की उपाधि से ये जो वृत्तियां पैदा हो गई हैं तो इन वृत्तियों से भी जुड़ा है इसका अभिप्राय ये हुआ कि ये सब जो मिल के काम करने वाले रथ की तरह हैं और जिस एक के लिए एक के संकल्प से ये सब काम कर रहे हैं वो एक जो जीव है वो इनसे न्यारा है पहले देह से जीवात्मा का लक्षण अलग जान करके विवेक करना चाहिए ये हड्डी अलग अलग मांस पी पिष्ठा मूत्र सब सब अलग अलग और उनमें जीवात्मा एक है को ये शरीर जब टूटता है फूटता है छूटता है, है तो शरीर के टूटने से छूटने से फूटने से जिसके लिए ये है वो नहीं टूटता फूटता पहले इसका इसकी पहचान इसकी पहचान जुदा करो तो अस्त विस्तरण शरीर शरीरस्थस्य देहिन देहाद से किमत्र परिशिष्य एक तदुपयुक्ता पहचान लेकिन देखो इसी शरीर में बैठा हुआ जो शरीर का मालिक है जिसके कहने से हाथ उठ गया है जिसके कहने से जीव बोलती है जो इस शरीर में वक्ता है श्रोता है दृष्टा है स्पृष्टा है मन का है विज्ञा का है जो इस शरीर में रह करके शरीर का संचालन करता है और शरीर जिसके लिए काम करता है वो शरीर से न्यारा है और अच्छा शरीर से न्यारा है तो आओ उसकी खोज करें खोज तो करनी चाहिए क्योंकि जिससे आदमी देखता है जिससे सुनता है, है? जिससे सुनता है जिससे चखता है जिससे जानता है वो शरीर के भीतर क्या है वो ज्ञान वो चेतना शरीर के भीतर क्या बैठी हुई है तो उसी का निरूपण किया कि वो इससे न्यारा है अब ये कहो कि तो ब्रह्म है कि तो तुम्हारे मुंह में जीत सकते तुमने बहुत बढ़िया बहुत ऊंची बात कह रही अगर ये बात तुमको मालूम हो गई कि वो ब्रह्म है तो फिर तुमको कुछ और सुनाने का नहीं है यहाँ उसका नाम जीव नहीं है ब्रह्म है हम जान गए बोले भाई नाम के बदले नाम मत रखो जैसे तो सन्यासी होते हैं ना तो नाम बदल जाता है जिनका नाम है ना घसीटा राम होता है, हैं वो रामानंद हो जाते हैं तो नाम बदलने से तो काम नहीं चलता ये जीवात्मा ब्रह्म है माने ये किसी लंबाई और चौड़ाई से सीमित नहीं है बल्कि दुनिया में और चीजों में भी जो लंबाई चौड़ाई मालूम पड़ती है वो इसकी वजह से कल्पित है तो भाई और चीजों में उम्र मालूम पड़ती है इतना कंजूब इतना सतलूब इतना फलाना इतना दुकाना ये उम्र जो चीजों में मालूम पड़ती है ना वो जिसकी सत्ता से ही कल्पित है जो ये आनंद मालूम पड़ता है वजन मालूम पड़ता है ये जिसकी सत्ता से ही कल्पित है तो ब्रह्म माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहे वो ब्रह्म तुम हो जिसमें ये देह सहित अंतकरण सहित ये संपूर्ण पांच भौतिक जगत ये संपूर्ण प्रकृति जिसमें केवल कल्पना की मौत पर सपने की तरह सुन रही है वो ब्रह्म तुम हो अगर तुमने जान लिया तब तो कुछ कहने की बात नहीं रही है न तुम्हारे लिए जाना है न आना है न नरक है न स्वर्ग है न पुनर्जन्म है न पृथकता है ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो कुछ है ही नहीं है बोले हम तो हो गए ब्रह्म ज्ञानी हम जान गए कि हम ब्रह्म हैं और मेरे सिवाय और कुछ नहीं है तो एक आदमी ने आके पूछा कि महाराज हम जान तो गए कि ब्रह्म है लेकिन ये वृत्ति टिकती नहीं है अब उससे पूछो कि तुम्हारी वृत्ति कहा जाती है बोले महाराज अन्य वस्तुओं में जाते हैं बोले कि तुम अपने को ब्रह्म जान भी गए और अन्य वस्तु भी रह गई और वृत्ति भी रह गई और वृत्ति का जाना आना भी रह गया जब तुम ब्रह्म हो तो अन्य कोई वस्तु तो है नहीं तब तो, तो ये नहीं कि मन मर गया ये नहीं कि देह मर गया ये देह और ब्रह्म देह और वृत्ति भी अन्य नहीं है इसका जाना आना भी अन्य नहीं है ये प्रपंच भी अन्य नहीं है क्या तो यत्र यत्र मनोजाति तत्र तो तत्र समाधे है ना तुम्हारी वृत्ति में जो खुरता है वो ब्रह्म रूप है गृहाभिमाने गलित विज्ञाते परमात्मनी यत्र यत्र मनोयाति पत्र पत्र समा गया बोले अभी तो तुमको ये मालूम पड़ता है कि हमारी वृत्ति का लगना और टूटना वृत्ति तुम्हारे लिए सत्य है और जिसमें वृत्ति गई वो भी सत्य है और ब्रह्म से भिन्न है वृत्ति भी ब्रह्म से भिन्न है जहाँ वृत्ति गई तो भी ब्रह्म से भिन्न है, है? और वृत्ति का लगना टूटना भी ब्रह्म से भिन्न है तो तुमने अपने को ब्रह्म जाना तो क्या जाना तो असल में तुम अपने को देह जानते हो तो विवेक करना पड़ेगा विचार करना पड़ेगा कि असल में हम देह हैं कि देह से न्यारे हैं जो लक्षण देह का है वही लक्षण मेरा है कि मेरा लक्षण कुछ जुदा है पहचान ही जुदा है हो वस्तु जुदा नहीं है पहचान जुदा है तो अस्य पुत्रम् समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्व परिशिष्यते बोलते हैं कि ये शरीर जिसके लिए है उसका नाम जीवात्मा शरीरम चेतन से तब के लिए है उसका नाम जीवात्मा शरीरम चेतन चेतना चेतनाय भगवती ये चेतन के लिए है ये रामानुज संप्रदाय में तो बोलते हैं कि जीव शेष है और परमात्मा शेषी है बोला तो चेतन का शेष है ये जीव क्या है तो परमेश्वर का शेष है शेष की गोद में भगवान रहता है ना ये तो आपने सुना ही होगा शेष की गोद में भगवान रहते हैं अब एक रकम से भी ये बात माननी पड़ेगी कि शेष गड़ा है उसका विस्तार जरा लंबा पड़ा है और उसकी गोद में अट जाने वाले विष्णु भगवान जो हैं वो नन्हे से हैं कहते हैं और शेष भगवान जिस क्षीर सागर में रहते हैं वो क्षीर सागर और विशाल है और वो क्षीर सागर जिस विशालता में रहता है वो विशालता तो पूछ नहीं क्या तो अनंत में अनंत में क्षीर सागर क्षीर सागर में शेष शेष में नारायण ये नारायण वही है कौन वही मध्य माम दामन नासीनम विश्व देवा उपासक वो दामन ही है उपेन्द्र है वो उपेन्द्र दामन है तो आओ जरा ये देखो असल में तुमने विचार किए बिना कहीं बात छोड़ दी होगी वेदांत का ये सिद्धांत है भी तत्व ज्ञान के साथ कर्म उपासना और योग का मिश्रण नहीं करना वस्तु तत्व के ज्ञान में एक एक एक आपको एक मोटी बात बताता हूं लोग आजकल वेदांत के जो प्रक्रिया ग्रंथ है ना उनको तो नहीं करते हैं तो सारी कठिनाई जो है वो वहीं से प्रारंभ होती है वेदांत का ये कहना है कि आंख से घड़ी दिखती है कि है तो यदि आंख ही बताएगी कि घड़ी नहीं है तब तो घड़ी का होना सिद्ध होगा और यदि नाक कहे कि घड़ी नहीं है तो घड़ी के रूप के संबंध में नाक प्रमाण नहीं होगी आप कभी जैसे आप कहे कि ये गुलाब का फूल है और त्वचा कहे कि नहीं है तो गुलाब का जो गुलाबी रंग का फूल है उसके अस्तित्व में नेत्र प्रमाण होगा त्वचा नहीं ऐसा अच्छा, ये चित्र है तो नाक तो कहते हैं कि चमेली का है या गुलाब का है और आप कहते हैं कि नहीं है तो घ्राण से जो सिद्ध है उसको नेत्र नहीं काट सकते और नेत्र से जो शुद्ध है उसको ध्यान नहीं काट सकते जिस इंद्रिय से जो वस्तु शुद्ध होती है उसी इंद्रिय से वो करती है जिस प्रमाण से जो वस्तु शुद्ध होती है उसी प्रमाण से वो करती है अब एक जैसे बातचीत हम करें ना हम तो दे रहे हैं युक्ति तो देखो जी हमारे सामने पुस्तक है दूसरे ने कहा पुस्तक नहीं माफी है बोले कैसे माफी है चाहे हम कागज में अभी दिया पिलाई लगाते हैं तो रुपया रह जाता है रात रह जाएगी है ना तो अब यहाँ बात ये करनी चाहिए कि आंख से जैसे तुमको पुस्तक दिख रही है वैसे हमको भी दिख रही है दोनों की आंख पुस्तक देख रही है ऐसे अच्छा तो हम एक श्लोक पढ़ने के शास्त्र में ये लिखा है कि तुम जीव हो तुम नरक कर्म में जाने वाले हो तुम करता हो तुम भोगता हो तो इस बात को यदि काटना हो तो शास्त्र का ही वचन प्रमाण के रूप में उपयोग करना पड़ेगा असल काम नहीं देगी यदि हम ये कहते हैं कि बुद्धि से ये सिद्ध है युक्ति से जब हम जुक्ति से सिद्ध करें तो जुक्ति के सामने जुक्ति जुड़ाओ और जब शास्त्र कहें तो शास्त्र के सामने शास्त्र लाओ तो, तो ये जो देह से अतिरिक्त आत्मा का होना है वो हमने कभी कहा है कि कुर्जबीन से सिद्ध होता है कि कैमरे से उसका फोटो लिया जाता है कि वो जाते आते देखा जाता है कुछ दिनों तक महाराज ये भूत प्रेत विद्यालयों में ने बड़ा एकत्र मचाया था कि हम फोटो लेते हैं बोला तो अब फोटो से सिद्ध करने लगे तो कट गया फोटो से फोटो में नहीं आया तो सचमुच फोटो फोटो कैमरा जिसके होने में प्रमाण था केंद्र ने बाद में बता दिया उससे ज्यादा शक्तिशाली केंद्र बने और उन्होंने बता दिया कि नहीं केंद्र को नहीं आती है विज्ञान से ये प्रसंग बिल्कुल हो गया तो हमने तो कभी कहा ही नहीं कि विज्ञान से ये बात सिद्ध होती है हम तो ये कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप समझने के लिए शास्त्र में अध्यारोप और अपवाद की प्रणाली है हम कभी ये बात नहीं कहते कि आंख से ब्रह्म और आत्मा की एकता दिखती है इसलिए आप से नहीं कर सकती हम ये कभी नहीं कहते हैं कि नाक से ब्रह्म और आत्मा की एकता सिद्ध होती है हम ये कभी नहीं कहते कि जीव से ब्रह्म और आत्मा की एकता सिद्ध होती है हम कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये देह से न्यारा है ये बात आपके काम से नाक से सिद्ध नहीं है ये बात शास्त्र से सिद्ध है इसी को अध्यारों का पदार्थ बोलते हैं बोला अच्छा हम ये कभी नहीं कहते हैं कि वैकुंठ गोलोक आदि जो हैं वो आप कान नाक से सिद्ध हैं तो, तो ये जो आत्मा की ब्रह्मता है वो जिस प्रमाण से आत्मा का पापी होना पुण्यात्मा होना सिद्ध है है तो युक्ति जिससे आत्मा का पापी तना पुण्यात्मा तना सिद्ध हो बोले तो हमें अनुभव होता है अरे ऐसी ऐसी अनुभूति तो तुम्हारे हजार होती है दिन भर में और कट जाती है और रात को सोते समय मैं पापी हूँ मैं पुण्यात्मा हूँ ये तुमको अनुभव होता है क्या सुसुप्ति में जब मैं पापी हूँ और मैं पुण्यात्मा हूँ ये अनुभव नहीं होता है तो अनुभव को कैसे सिद्ध हो सकता है कि तुम पापी पुण्यात्मा हो ये तो लोगों ने सुना सुना के तुम्हारे मन में संस्कार ही तो ज्यादा है ना कि तुम करता हो तुम भोगता हो है ना तो जैसे जैसे देह से अतिरिक्त आत्मा को मानने जानने के लिए तुम्हें देहातिरिक्त रूप में पापी पुण्यात्मा और नारकी स्वर्गी सिद्ध किया हुआ है जब उसी समकक्ष प्रमाण के द्वारा वो चीज कटेगी तब कटेगी जहाँ से संस्कार आया है वहीं से ये कटेगा एक आदमी का महाराज अच्छा तुम्हारा नाम क्या है जी तो मोहन लाल तो नहीं तुम सोहनलाल हो अब मैं बोला उसने कहा कि हमारे माँ ने बाप ने पंडित ने दफ्तर ने हमारा नाम मोहन लाल रखा होगा जब से मैं होश में आया तब से अपने को मोहन लाल जानता हूँ ये मोहन लाल किस प्रमाण से सिद्ध है तुम्हारा नाम बता सकते हो नाक के खून की मालूम पड़ेगा कि तुम मोहन लाल हो है तो सब जीव से चक के जरा मालूम पड़ जाए कि मोहनलाल का स्वाद यही होता है हैं? तो त्वचा तो छू के मोहनलाल मालूम पड़ेगा आंख से देख के मालूम पड़ेगा मोहनलाल काम से सुन के पड़ेगा कि तुम्हारा तुम मोहनलाल हो और तुम्हारे दिल में जो पहले बचपन में संस्कार डाल दिया गया उससे तुमने अपना नाम मोहनलाल मान लिया और मोहनलाल नहीं माना है? क्यों नहीं माना मोहनलाल तो लेकिन तुम्हारा मोहनलाल नाम है, है? और अब तुम्हारा नाम महादेवानंद है तो मानोगे कि नहीं मानोगे सन्यासी होने पर अगर तुम्हारा नाम महादेवानंद रख रहे तो भाई गृहस्थ आश्रम बदल गया अब हमारा नाम आनंद बैंक बैंक में खाता बदल जाएगा वो और हाँ, मोहनलाल की जगह महादेव आनंद हो जाएगा महादेव आनंद कैसे हो गया तो ये तुमने जैसे सुन के दूसरे के कहने से तुमने अपना नाम मोहनलाल माना था वैसे जब तुमने जब संन्यास लिया तो गुरु जी ने तुम्हारा नाम महादेव आनंद रख दिया तो नहीं अब हमने प्रमाण के द्वारा मारे नाक से सुन के जीव से चक के आंख से देख के आस्था से छू के है ना और काम से अनाहत नाग में मैंने अपना नाम महादेवानंद सुना है जब से अनाहत नाम महादेवानंद तुम्हारा नाम बताता एक नाम जो कल्पित था वो दूसरे कल्पित नाम से कटता है अच्छा अब यदि ये बात मालूम है अधिष्ठान याथात्म के ज्ञान से कि अपने स्वरूप में मोहनलाल भी कल्पित है और महादेवानंद भी कल्पित है, हैं? अपना जो तत्व है आत्म तत्व है वो तो अनाम है अगर ये बात तुम्हें मालूम है तब तो ठीक है तो देखो ये देह नहीं ये संपूर्ण विश्व का देह भी संपूर्ण विराट हिरण गर्भ और ईश्वर भी संपूर्ण पंचभूत और अहम तत्व महातत्व और प्रकृति भी और उनसे विशिष्ट जो चैतन्य है जो भी उसके नाम भी तुम्हारे अंदर कल्पित हैं बोला ये कितना सुगम है ये कितना सुगम है कि बिना खोजे दीने जैसे तुमने अपना नाम बचपन में मान लिया था वैसे अब जांच पड़ताल करके तुम अपने को अनाम जानो है? जैसे रूप वाला मान लिया था वैसे अरूप जानो और अनाम अरूप जान करके चाहे तुम्हारे सहस्त्र नाम बन जाए लेकिन तुम इन सब नामों को कल्पित जानो चाहे तुम्हारे हजार रूप बन जाए और उन सब रूपों को कल्पित जानो अधिष्ठान याथात्म्य के ज्ञान से माने ये जान करके कि हमारे देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न रूप का कोई नाम नहीं है और कोई रूप नहीं है और कोई गुण धर्म स्वभाव नहीं है किसी प्रकार का कर्तापन भोक्तापन परिच्छिता संसारीपन अपने स्वरूप में नहीं है ये जानने के बाद कोई भी नाम कल्पित हो तो व्यवहार में नाम कल्पित होगा और ठीक वैसे ही होगा जैसे पंडित जी ने पंचांग देश के मोहनलाल रखा था और अब गुरु जी ने महादेवानंद रख दिया जैसे दोनों नाम कल्पित होंगे तो वैसे ये जो अपना नाम है ना पहले देह रखा हुआ है देह का नाम है मनुष्य हो तो ब्राह्मण नाम की कोई चीज ऐसी सृष्टि में नहीं है जिसको नाश से सुन के या जीव से चक के या त्वचा से छू के या हाथ से देख के जाना जा सके ये जैसे हम पशु नहीं हैं और पशुओं के गुण धर्म से हमारे अंदर विशेष होना चाहिए सदाचार होना चाहिए संस्कृति होनी चाहिए सभ्यता होनी चाहिए इंसानियत होनी चाहिए जानवर बना नहीं होना चाहिए इंसानियत होनी चाहिए मनुष्यता होनी चाहिए इसके लिए हमारा नाम पशु नहीं है मनुष्य है बोला ऐसे मनुष्य ने भी साधारण कोटि के मनुष्य नहीं है ना जिनका धर्म संध्या वंदन करना है वेद शास्त्र का स्वाध्याय करना है अग्निहोत्र करना है है ना ऐसा ब्राह्मण विशेष मैं हूँ ये अभिमान उत्पन्न हुआ है अभिमान उत्पन्न किया गया हाँ। अच्छा तो उसमें तो फिर मैं सन्यासी हूँ ऐसा हुआ अरे भाई ये मनुष्य पना ब्राह्मण पना सन्यासी पना ये तो देह में कल्पित हुआ और देह में भी तो कई रंग हैं इसके कितने रंग हैं बचपन में धूल में खेलना जवानी में रागत देश में चूर हो जाना है और बुढ़ापे में मोह ममता में सो जाना ये तो शरीर के ही तरंग है ना बुढ़ापे में जरा मोह ममता ज्यादा होती है आदमी को दूसरे पर जब आश्रित होने लगता है ना जब मनुष्य स्वावलंबी की जगह परावलंबी होने लगता है तो समझना कि बुढ़ापा आ गया हाँ। और नए विचारों का जब विरोध ही विरोध सूझ है उसका समन्वय और उसकी संगति और उसका सामंजस्य न समझे तब भी समझना कि ये बुढ़वत आ गया नए विचार भी तो पुराने विचारों में से ही निकले हैं उनकी भी तो संगति है ना जैसे पुरानी भाषा में से नई भाषा निकलती है, है? जैसे बाप में से गीता निकलता है वैसे प्राचीनता में से नवीनता निकलती है तो जब प्राचीनता छोड़ने वाली नवीनता का विरोध करने लग जाए उसमें जो अपना अंश है प्राचीन का वो दिखाई पड़े तो समझना कि बुढ़ापा आ गया तो प्रत्येक नवीनता में भी प्राचीनता अनुस्यूत रहती है प्रत्येक प्राचीनता में भी नवीनता के बीच विद्यमान रहते हैं तो बचपन के रंग जवानी के रंग बुढ़ापे के रंग ये सब बदलते रहते हैं मनुष्य तनाव ब्राह्मण तनाव सन्यासी तनाव ये सब देह में देह में आरोपित है और ये देह काम किसके लिए करता है ये पांव किसके लिए चलता है ये जीव किसके लिए बोलती है ये जीव किसके लिए खाती है ये काम किसके लिए सुनता है ये जो अनेक है ना असंघत है ना ये जो संघात है परस्पर अलग अलग होने पर भी एक में जुड़े हुए जो बहुत सारे कल पुर्जे हैं ये किस एक के लिए ये अनेक जुड़े हुए हैं ये किस चेतन के लिए ये जड़ काम कर रहे हैं है? ये किसके आनंद के लिए ये शरीर में ये शरीर में ये क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है हाँ। तो बोले भाई उसका नाम जीव है जब इस शरीर से अलग होता है अस्य विश्रम समानस्य शरीर देहना इस बिखरने वाले शरीर में विकीर्ण होने वाले शरीर में बैठा हुआ जो देही है देह माने ढेर होता है संस्कृत भाषा में देह माने ढेर दिह उपचय ये संदेह को भी इसीलिए बोलते हैं संदेह क्यों बोलते हैं संदेह माने संशय होता है ना तो उसमें ज्ञानों का ढेर हो जाता है माने एक ही वस्तु के विषय में एक प्रकार का ज्ञान नहीं अनेक प्रकार का ज्ञान हो जाता है जैसे किसी को ये शंका हो जाए कि जिस रास्ते से हम चल रहे हैं उसके दाहिनी ओर हमारा घर पड़ता है कि दाई ओर पड़ता है तो कभी बुद्धि बताएगी कि बुद्धि कहेगी कि दाई ओर है और कभी बताएगी कि दाई ओर है तो दाई ओर दाई ओर दो ज्ञान जब इकट्ठे हो गए तब उसका क्या नाम हो गया संशय संदेह संदेह हमारे दो ज्ञानों का ढेर उभय के व्यवधानिक ज्ञान का नाम संशय है हाँ। जो कभी कहे कि इस किनारे नाव पर बैठ गए बल्ला ने कहा महाराज कहाँ ले चले उन्हें तो उस पार ले चलो जब उस पार गया तो मेरे भूल हो गई भाई हमारा घर तो उस पार है जब इस पार में है तो बोले उस पार है अब नदी में इस पार से उस पार इस पार से उस पार लगते रहो है ना तो ये ये जो ये इसी का नाम है संदेह सम्यक देह ये देह क्या है तो इसमें तुम हड्डी हो कि मांस हो कि चाम हो कि विष्ठा हो कि मूत्र हो ये जब बिखर जाता है ना विकीर्ण हो जाता है विकीर्ण हो जाता है संस्कृत में शब्द विकीर्ण हाँ। विकीरण बिखरना हाँ। विशीर्ण विशीरण है ना टूट जाना टूट जाना फैल जाना ये शरीर इसको शरीर बोलते हैं सिर जैसे जब सब शरीरम शरीर उसको कहते हैं जो एक दिन टूट जाएगा नहीं आएगा ये कोने का शरीर काम हो हाँ। तो महाराज आप लोगों में तो कई लोग बड़े कोमल वृत्ति के होंगे हमारे एक मित्र थे अभी ईश्वर कृपा से जिंदा हैं है? वो हिंदू विश्वविद्यालय में दबा लेने हुए देखने में बड़े मनुष्य बड़े सुंदर हैं तो जब उनके सामने ये ऐसी चर्चा आती ना कि हड्डी अलग मांस अलग सीध अलग पृष्ठ अलग जरा शरीर विकीर्ण हो जाएगा राम राम राम राम कान में उंगली डाल देते लेकिन हम क्या बता रहे हमारे सामने देखते देखते उनका वो सुचिकन शरीर है ना गाल काले थे तो सफेद हो गए है ना बात उनके बहुत चमकने थे तो महाराज टूट गए कमर लटक तक गए भगवान लेकिन उनका मन नहीं लगता है ये नहीं समझना कि मन लटक गया हो बोला बड़े रसिया है बड़ी रसिक बड़ी रसिक है तो वो कौन है जो अपने को अभी रसिक मान करके बैठा हुआ है वो कौन है देह तो उनका ना देह में तो समझ लो धुरी पड़ गई गाल बाल गाल जो है काले से सफेद हो गए तो ये गाल जो है वो टूटक गए हैं मुंह कोपला हो गया दांत टूट गए लेकिन उनका अभी तो बड़े रसिक है वो वो रसिक बना भीतर कौन बैठा है ये देखो तो शरीर सत्य देहना इस बिखरे हुए शरीर के भीतर एक देही है जो हाथ को बोलता है हाथ वाला मैं ऐसा अच्छा, हाथ वाले हो तो बोले पाँव वाला भी मैं आंख वाला मैं नाक वाला मैं ये जो देही बना बैठा है जब विक्रम समान होता है हड्डी मांस चाम के शरीर को छोड़ करके देहाद विमुच्यमान अस्य जब केवल इनकी वासनाएं लेकर के इसमें से उड़ता है तो किमत्र परिशिष्ट है इस जीवन में इस शरीर में क्या रह जाता है वो तो बताओ उसके बिना अब कई बार बात कहते कहते मन में संकोच आता है वो एक बार हम लोग एक ऐसे आश्रम में गए जहाँ दिव्य स्वर्ग को धरती पर उतारने के लिए प्रयोग जारी है वो लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग को धरती पर उतार लेंगे और सृष्टि को दिव्य बना देंगे तो हम लोग महाराज सब वेदांति वेदांति थे मैं था सनातन देव जी थे जिन्होंने उपनिषदों की हिंदी ये गीता तरह से है ना कि सब उपनिषदों की हिंदी उन्होंने की है उनका नाम पहले लाल जी था सन्यासी हुए जब सनातन हमारे साथ ही रहते हैं माने वृंदावन में हमारे आश्रम में रहते हैं सनातन देव जी सृष्टि भी है हमारे आश्रम तो नारायण वो थे राम नारायण शास्त्री थे गीता प्रेस थे पंडित रमाकांत त्रिपाठी थे हम लोग गए और महाराज एक ने पूछा कि जब ये सृष्टि दिव्य होगी तो ये बच्चे पैदा करने की क्रिया दिव्य कैसी होगी इसका स्वरूप क्या होगा है ना काटस्खलन होगा कि नहीं होगा ऐसे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एक ने बोला कि पांव टूट गया है ना ये धरती पर स्वर्ग धरती पर उतर रहा है मनुष्य दिव्य हो रहा है अमर हो रहा है और पांव तो टूट गया तो ये कैसे टूट गया एक ने पूछा ना पूछने की बात छोड़ देते हैं देखा क्या देखा कि वही जो दिव्य स्वर्ग को धरती पर ला रहे थे वो मर गए तो ये हुआ कि इनके शरीर को हम लोग बंगाल में ये बहुत रिवाज है है ना लोग रखते हैं शरीर को मसाले में बंद कर करके कि हजार वर्ष बाद सौ वर्ष बाद दो सौ वर्ष बाद ये फिर जिंदा होंगे यही शरीर उठ के फिर धर्म का प्रचार करेगा कई लोगों का है लेकिन ये बात बिल्कुल अनुभव से शास्त्र से ये बात सिद्ध है कि ये शरीर ये शरीर शरीर है ये लिखा जाएगा और जैसे पेड़ जीर्ण हो जाने पर गिर जाने पर चिड़िया उसमें से उड़ जाती है इसी प्रकार जो जड़ चेतन के संबंध का भाव है वो संबंध का भाव टूट जाएगा देहात विमुच्य मानस अब क्या रहेगा नहीं रहा वो शरीर भी नहीं रहा आप आश्चर्य करेंगे उस शरीर में से भी दुर्गंध निकले हाँ, उस शरीर वो शरीर भी सड़ गया तो शरीर का ही अंतिम गति यही है लेकिन शरीर में जो मैं है उसकी पहचान दूसरी है वो ये टूटने वाला नहीं है प्रकाशक है वो फूटने वाला नहीं है प्रकाशक है वो गंधाने वाला नहीं है प्रकाशक है वो बाल काले वाला नहीं है प्रकाशक है उसकी एक स्वतंत्र सत्ता उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है और उसके बिना ये देह उसके बिना ये देह कुछ नहीं है जैसे पुरुष स्वामी का विक्रमण होने पर पूर्ववासी लोग जो हैं वो महाराज भाग जाते हैं तो इसी प्रकार जिसके बिना इस शरीर का कार्य करण कला सारा शरीर में रहने वाला कार्य रूप द्रव्य और इसमें रहने वाली करण रूप इंद्रिया ये सारा हतबलन विध्वस्तम होते किसी में कोई बल नहीं रहता ये विध्वस्त होता है विनष्ट हो जाता है न वो नाम रहता है और न वो रूप रहता है तो भोगा नृहत्वा राजपुरवत तो बोले भाई इस शरीर से जुदा है आत्मा और इस शरीर से जुदा है आत्मा ये बात युक्ति से सिद्ध हो सकती है दोनों की पहचान अलग अलग है लक्षण अलग अलग है भिन्न नहीं है बोला घड़ा और मिट्टी भिन्न भिन्न नहीं है उसमें कल्पित जो नाम रूप है उसी की दृष्टि से घड़ा भिन्न मालूम पड़ता है मिट्टी से यदि कल्पित नाम रूप का ख्याल छोड़ दें तो घड़ा मिट्टी है मिट्टी का कार्य नहीं है बोला कार्य नहीं है मिट्टी है काल तो जो लोग मिट्टी के लोदे को ही मिट्टी समझते हैं कि लोदा ही मिट्टी का रूप है घड़ा बनने के पहले जो कुमार ने है ना जो मिट्टी खोदी थी वो तो मिट्टी का असली तो रूप है और जो बनाया घड़ा वो बनावटी रूप है है ना रूप भले कोई पहले का कोई बनावटी हो सकता है लेकिन काल कारण भाव तो बिल्कुल है ही नहीं वो मिट्टी मिट्टी है ऐसी स्थिति है तो भिन्न नहीं इसको बोलते हैं विलक्षण बोलते हैं तो देह से विलक्षण है आत्मा ये तो आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर जोर दोगे तो मालूम पड़ जाएगा ये बात वेदांत के सुनाता है जी हे जीव अगर तुम विचार करोगे तो अपने को हाथ से जुदा पांव से जुदा आंख से जुदा कान से जुदा नाक से जुदा समझ सकोगे लेकिन ये अलग हैं और तुम अलग हो ये अलगाव होने के बाद जब तुम अलग होकर बैठोगे तो चाहे सविकल्प समाधि लगे चाहे निर्विकल्प चाहे असंप्रज्ञात लगे चाहे संप्रज्ञात बोला चाहे तुम दृष्टा की दृष्टि बनाओ चाहे ब्रह्म की दृष्टि बनाओ तुम्हारी दृष्टि टूट के फिर दृश्य में आवेगी तो यदि तुम दृश्य को सत्य है ना और अपने से भिन्न जो समझते हो आप ये समझ अगर भी बनी रहेगी है ना अगर ये समझ कटी नहीं है कि ये दृश्य मुझसे भिन्न और सत्य है अगर ये समझ तुम्हारी बनी रहेगी तो इस दृश्य में जब तुम्हारी वृत्ति आवेगी ना तो संस्कारानुसार ये अच्छा है और ये बुरा है और अच्छे को पाने की वासना और बुरे से द्वेष करने की वासना फिर उदय होगी और राजा द्वेष होगा और राजा द्वेष होगा और फिर तुम वैसे दुखी हो जाओगे जैसे पहले थे तो घंटे भर दृष्टा होकर बैठने से तुम्हारा संसार नहीं कटेगा वही पति वही पुत्र है ना वही सौ है ना हाँ, वही सौ वही दुश्मन तो बोले फिर क्या करना पड़ेगा तो करना ये पड़ेगा कि यदि तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे दृष्टा की दृष्टि है ना तो या तो दृश्य के बारे में सोचो कि ये जितने पशु पक्षी मनुष्य आदि के नाम रूप हैं ये सब पंचभूत में है और पंचभूत अहंकार में और अहंकार महत्व में और महत्व प्रकृति में और प्रकृति जो है वो अनंत अद्वय परमात्मा में वस्तुता हुए बिना केवल फुरना मात्र है और ब्रह्म चेतन तुम चेतन तुम और ब्रह्म एक और सृष्टि तुम्हारी फुरना ये तुमसे भिन्न सृष्टि नहीं है जैसे माटी से भिन्न घड़ा नहीं है वैसे तुमसे भिन्न तुम ब्रह्म से भिन्न ये सृष्टि नहीं है तो क्या होगा अच्छाई और है ना और तब देश के संस्कार भी बाधित हो जाएंगे तब शत्रु और मित्र के संस्कार भी बाधित हो जाएंगे और जत्र जत्र मनोजाति तब तुमको वृत्ति लगती है कि नहीं लगती है क्या ये प्रश्न तुम्हारे जीवन में बिल्कुल नहीं रहेगा उसका समाधान हो जाएगा है ना वेदांत वेदांत शास्त्री बताता है वेदांत कहता है हमारे सिवाय तुम्हारी वृत्ति तुमको नहीं बतावेगी तुम्हारी आंख नहीं बतावेगी तुम्हारी नाक नहीं बतावेगी तुम्हारा कान नहीं बतावेगा तुम्हारी जीभ नहीं बतावेगी तुम्हारी बुद्धि भी नहीं बतावेगी क्योंकि बुद्धि जो है वो इंद्रियों से आहित जो संस्कार उसके अनुसार ही विचार करती है और बिना इंद्रियों के द्वारा आहित संस्कार की बुद्धि होती नहीं अच्छा बुद्धि जब होगी बुद्धि निष्पक्षता भी निष्पक्ष है देखो आज धर्म निरपेक्षता है ना धर्म निरपेक्षता जिसको बोलते हैं तो एक पार्टी का पक्ष है कि नहीं है ना एक पार्टी का पक्ष है दो पार्टी का पक्ष है तीन पार्टी का पक्ष है लेकिन पार्टी पक्षगत भावना है कि नहीं निष्पक्षता भी है ना निर्दलियों का भी एक दल है अपक्षों का भी एक पक्ष है लोग निर्दलियों का दल ये सारे हैं ना आकाश में बिल्कुल स्वतंत्र तारे हैं इनकी भी राशि होती है ढेर होती है वो दस राशि की सौ राशि की तीन राशि की मैंने एक राशि में एक राशि में कई कई तारे होते हैं मेष राशि में इतने तारे कृतिका के इतने तारे है ना रोहिणी के इतने तारे इनमें भी दल होता है ढेर बन जाती है ढेर ढेर के ढेर होते हैं तो निष्पक्षता कहाँ से आएगी निरपेक्षता कहाँ से आएगी नारायण तो वेदांत जो है ना वेदांत ये कहता है हमारी जरूरत है तुमको ना ये बात है कि हमारी जरूरत हमको अगर एक बार तुम है ना अपनी दृष्टि में ले लोगे तो हम नहीं रहेंगे तुम रहोगे और तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई नहीं रहेगा हम कहते हैं मैं मर जाऊं तुम प्रभु जियो वेदांत हाथ जोड़ के बोलता है हे आत्मदेव हे आत्मदेव तुम ब्रह्म हो जाओ मैं मरता हूं तुमको ब्रह्म बना करके वेदांत मरने को तैयार है हाँ, जागरूक होने को तैयार है मुखिया होने को तैयार है असत्य होने को तैयार है लेकिन तुमको ब्रह्म बनाने का काम है ना ब्रह्म बनाने का काम ऐसा डॉक्टर है जो रोगी को जब मरते देखे तो अपने शरीर का सारा खून उसके शरीर में डाल दे खुद भले मर जाए लेकिन रोगी को बचा दे ऐसा डॉक्टर है ये वेदांत ये वेदांत ऐसा डॉक्टर है इसी को श्रुति माता श्रुति माता बोलते हैं तो तुम्हारी बुद्धि क्या देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न को अपने पेट में ले लेगी जब नहीं लेगी तो उसका पेट फाड़ने वाला चाहिए ऐसा डॉक्टर चाहिए जो बुद्धि का पेट फाड़ दे है ना बच्चा निकल है बोला उसमें से ब्रह्म निकल है ब्रह्म तो वो पेट फाड़ने वाला डॉक्टर ये वेदांत है तो ये क्या बताता है ये देह जो है ये विस्तृत हो जाता है ये शरीर है और इसमें जो देहस्थ है ना वो जहाँ देह से अलग हुआ तो किमत्र परिशिष्य से क्या रह जाता है भाई बोले तो जो रह जाता है तो ये तद वही तद देह नहीं रहता है प्रकाशक रहता है अध्यक्ष नहीं रहता है अधिष्ठान रहता है बोले कि तब तुम एक देह और ब्रह्म के बीच में एक जीव की कल्पना क्यों करते हो तो बिल्कुल शास्त्र से ही जीव की कल्पना होती है ये नरक स्वर्ग आदि जो है ना ये विज्ञान सिद्ध नहीं है और ये जीव का जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है ये विज्ञान सिद्ध नहीं है और इसीलिए ब्रह्मत्व की भी विज्ञान सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्रह्म तो विज्ञान का विषय नहीं है अनंत जो है वो जो किसी का विषय होगा वो अनंत ही नहीं होगा तो मैं भी हो और ब्रह्म भी हो गए तो दो हो गए ना तो मैं भी हो और जगत पांच प्रकार का भेद नहीं रहता है ये आपको जानना चाहिए जगत जगत का भेद जैसे भैंस का और बैल का घोड़े का ये क्या है स्त्री का और पुरुष का ये क्या भेद है जगत जगत का भेद है हो जगत जगत का भेद और जगत का और जीव का जैसे जगत जड़ है और जीव चेतन है और जीव जीव का एक पापी है एक पुण्यात्मा है और जीव ईश्वर का और ईश्वर जगत का ये पांच प्रकार का भेद होता है जगत से जगत का एक जगत से जीव का दो जीव से जीव का तीन जीव से ईश्वर का चार और ईश्वर से जगत का पांच ये पांचों प्रकार के भेद जिसमें अध्यक्ष हैं कल्पित हैं जो इनका कल्पित अधिष्ठान है जो इनका कल्पित प्रकाशक है जो स्वयं प्रकाश है जो अपने से भिन्न नहीं है है ना अपने आप का ही नाम ब्रह्म है और ब्रह्म से भिन्न ये प्रपंच नहीं है एक वैता ये जो रह जाता है ना हिमत्र परिशिषित है देह में तो कुछ नहीं रहता तो देह में कुछ नहीं रहता तब क्या रहता है बोले तो जिसको तुम कहते हो कुछ नहीं रहता वो कुछ नहीं जिसमें रहता है वो कुछ नहीं जिसमें मालूम पड़ता है शंकराचार्य भगवान से किसी ने कहा कि शून्य ही शून्य है बिल्कुल शून्य अभाव भी नहीं भाव सापेक्ष जो अभाव है वो भी नहीं है बहुत लोग उसको नहीं मानते हैं बोले घट नहीं घटा भाव नहीं घट घट जब होगा तब न घटा भाव होगा घटा भाव का ज्ञान किसको होगा जिसको घड़े का ज्ञान होगा तो यदि तो यहाँ घड़ा नहीं पहले तो घड़ा यहाँ था अब घड़ा नहीं है बोले पहले घड़ा था और अब घड़ा नहीं है ये भाव और अभाव दोनों नहीं है शून्य है तो शंकराचार्य भगवान ने प्रश्न किया कि दोनों नहीं है शून्य है ये बात कैसे मालूम पड़ी जिसको मालूम जो देखता है इस बात को जो जानता है इस बात को वो कौन है उस वो शून्यता जिस अनुभव का विषय है तुम अज्ञात शून्यता की बात कर रहे हो कि ज्ञात शून्यता की बात कर रहे हो कि ज्ञाता ज्ञात के विलक्षण शून्यता की बात कर रहे हो हैं? तो यदि शून्यता अज्ञात है तो तुम शून्यता की कल्पना कर रहे हो यदि शून्यता ज्ञात है तो अनुभव का विषय है और यदि ज्ञाता ज्ञात से विलक्षण है तो अनिर्वचनीय अनुभव है अपना अनुभव स्वरूप बाण मनसा गोचर वाम मनसा गोचर अनुभव स्वरूप है ब्रह्म है तो ये तदवई न प्राणी नो ना नो मृत्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवंती यस्ता उपाश्रित बोले बाबा शरीर में कर सकता है एक हवा होती है जो खाए हुए को भीतर ले जाती है एक हवा वो होती है जो बाहर निकालती है एक हवा होती है जो बाहर से शक्ति को खींच करके भीतर पहुंचाती है एक हवा वो होती है जो सबको फर्श है तो सब हवा लेकिन इनकी वृत्ति इनका व्यापार इनकी जीविका जुदा जुदा होती है जैसे भंगी जैसे हाँ, भंगी झाड़ू लगा देता है, है? नौकर बाजार से सामान ला देता है रसोईया पका देता है, परसने वाला परस देता है खाने वाला खा लेता है, हैं तो सब आदमी लेकिन सबकी वृत्ति अलग अलग है सबकी वृत्ति अलग अलग है सबकी जीविका अलग अलग है इस तरह से शरीर में रहने वाले जो प्राण अपान आदि हैं वायु के जो वायु तो सब जगह एक है सब में एक है परंतु वृत्ति उसकी शरीर के भीतर अलग अलग देखने में आती है तो ये किस मालिक के लिए हवा ने यहाँ इतने रूप ग्रहण किए हैं किसके लिए जिंदा रहते हैं जिसके नहीं रहने पर ये हवा अपना काम करना बंद कर देती है न प्राणी नो न अपाने नो मृत्यो जीवती कश्चन इतरेण तु जीवंती यस्मिन नेता उपाश्रित प्राण अपान से मनुष्य जिंदा नहीं रहता ये मरण धर्म मनुष्य प्राण अपान से जिंदा नहीं रहता जस्मिन नेता उपास प्राण और अपान दोनों जिसके आश्रय से रहकर जिसकी सेवा करते हैं वो असली जीवन है सत्य जीवन परमार्थ जीवन अनंत जीवन ये विचिकित्सा तो ये है ना संशय तो ये है कि क्या हमारे जीवन का कोई ऐसा स्वरूप है जो रागत द्वेष रहित है क्या हमारे जीवन का ऐसा कोई स्वरूप है जो परिपूर्ण है अविनाशी है अद्वय है अबाध्य है कभी जिसका निषेध न किया जा सके ऐसा सत्य क्या हमारे जीवन का कोई स्वरूप है हमारा सच्चा जीवन परमार्थ जीवन कोई है बोले है कैसे पता चले बोले नाम रूप कर्म से जुदा करके है ना नाम रूप कर्म से जुदा करके अपने आप को पहचानो नहीं तो वही तक तो ये नाम रूप कर्म से जो जुदा है वो अनंत है वो परिपूर्ण है वो अद्वय है अविनाशी है चुनमात्र है अद्वय है अद्वय न दृश्य रूप से कोई दूसरा है न दृष्टा रूप से कोई दूसरा है न परोक्ष रूप से कोई दूसरा है साक्षात अपरोक्ष है अच्छा अब ये प्रसंग पर कल सुना